आप सल्लल्लाहु अलैहि फरमा दीजिए न हमारे गुनाहों के बारे में तुमसे सवाल होगा और न हमसे उसके बारे में पूछा जाएगा जो तुम करते हो